पश्चात अब द्वारपालों की उपासना प्राणोपासना है तस्य हवा ये तस्य हृदय से या प्राण सुशी स प्राण तत्चक्षु स आदित्य इत्यादि बोला था तेजस तेजस्वी अन्नांतिम उपासित इत्यादि था तो उसके पश्चात जो दक्षिण दिशा में जो क्षेत्र है हृदय में उसके बारे में चर्चा है मंत्र तो हो गया था ये भाष्य इसका टीका में कहा हृदय से पूर्व दिग अवस्थित छिद्र संबंधित प्राण रूपा हृदय में पूर्व दिग दिशा में जो बैठे व्यवस्थित जो छिद्र है उसके संबंधी रूप से प्राण को कहा कथन करके ज्ञान और स्रोत्रम चंद्रमाश्च कृतयम इतर संबंध उपासना वहां पर प्राण चक्षु आदित्य तीन की उपास्य बताया था तीन मिला करके कहा था प्राण उपासना के संबंध अभी तीन ले गए हम ज्ञान स्रोत चंद्रमा इतने इतर संपर्कम एक दूसरे के साथ संबंधित है ज्ञान के साथ स्रोत्र का संबंध स्रोत्र के साथ चंद्रमा का संबंध दिखाएंगे ये बताना चाहते हैं अथ इत्यादि ने कहा अथ यो अश्य दक्षिण शिशि है ये हृदय है प्रसिद्ध हृदय इसके जो दक्षिण तरफ छिद्र है तस्थ वायु विशेष हाँ, उस छिद्र में स्थित जो वायु विशेष है सब वीरवत कर्म वो बलवान कर्म कर्म करने वाला होता है जो विशेष कर्म करना होता है तो प्राण और पान को रोक करके हम करते हैं वो प्राणापान के संधि का अवस्था है वो ज्ञान है जो श्वास छोड़ते भी नहीं खींचते भी नहीं रोक करके रखते हैं जैसे कोई ओजन आदि उठाना हो उस समय ज्ञान वायु का प्रयोग होता है तो वीरवत कर्म वाला है जो बलशाली कर्म वाला पूर्वक वीरवत कर्म करता हुआ ज्ञान का अथवा विग्रहवा प्राणापान प्राण और अपान का विच्छेद कर देता है बीच में रह करके अपान को नीचे प्राण को ऊपर कर देता है इसलिए उसको ज्ञान कहा अथवा नाना बार अनेक नाना प्रकार से ये संधि और स्थान में विशेषकर जोड़ों में नाना प्रकार के चलता है चेष्टा करता है इसलिए उसको ज्ञान कहा तीन ज्ञान का विग्रह तीन प्रकार के बता दिया ज्ञान दस संबंध हुए सोचम उस ज्ञान में संबंधित है स्रोत सूर्य के प्रमाण है और श्रोत्र बने इंद्रिय तथा तत् छत चंद्रमा और उसी प्रकार उसी बयान में संबंधित है चंद्रमा के बताया श्रोत्रेण दृष्टा दिशा से चंद्रमा से दृष्टि कहते हैं ये चंद्रमा का संबंध ज्ञान के साथ कैसे होगा स्रोत्र के साथ कैसा होगा ज्ञान का बयान के साथ संबंध स्रोत्र का और स्रोत्र के साथ संबंध चंद्रमा का बताया तो कैसे श्रुति प्रमाण कहते हैं इसके लिए वैसे स्रोत्र इंद्रिय और चंद्रमा का कोई संबंध दिखता नहीं है किंतु श्रुति प्रमाण है श्रोत्र और श्रेष्ठा दिशा चंद्रमाश्चि श्रुति ऐसा श्रुति है श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सृष्टि किया किसने ये विराट महापुरुष है विराट है विराट के ने अपने कान से सृष्टि किया था दिशाओं को चंद्रमा श्रोत्र श्रेष्ठा चंद्रमा से विराट पुरुष ने काम किया था अपने स्रोत इंद्रिय के द्वारा दिशा और चंद्रमा का की सृष्टि की ऐसा आया प्रयोग पूर्ववत आश्रय के साथ लेना हम्म। चंद्रमा का आश्रय स्वर्गलोक आदि जो भी है और इसका दिशाओं का आश्रय सब आश्रय के सहित पहले सही से लेना कहा तदेतत तदेतत श्री से विभूति स्रोत्र ज्ञान ज्ञानान हेतुत्व अतस्थापन श्रीश्च यशस्व की उपासित ऐसा कहा था इसके दो प्रकार से उपासना करे उस ज्ञान की व्यस्त दक्षिण कोण में जो प्राण वाली हो ज्ञान कहते हैं उसके दो गुण आधान करके श्री और यश तो स्त्री का अर्थ क्या है कहा श्रीश्च मानी विभूति ऐश्वर्य मान की उपासना करे ऐश्वर्य गुण का आधान श्रोत्र चंद्रमोत्र ज्ञान ज्ञानम हेतुत्व अतस्ताभ्याम श्रीत्व कहते देखो श्रोत्र से क्या होता है <coughs> कि ज्ञान होता है शब्द सुनते हैं हम श्रोत्र इंद्र के द्वारा शब्द सुनते हैं हमें जानकारी होती है श्रोत्र जो है ज्ञान का हेतु है और चंद्रमा जो होता है अन्न का हेतु है श्रोत्र चंद्रमा और ज्ञान अन्न हेतुत्व दो अलग अलग कर देना श्रोत्र में होगा ज्ञान हेतुता और इसमें चंद्रमा में होगा अन्न हेतुता श्रोत्र चंद्र बसोर ज्ञान अन्नयतम अतस्ताभ्याम श्रीस्तम इसलिए वो दोनों गुण वहां है ज्ञान का कारण भी है और अन्न का कारण भी है इसलिए श्री मान करके उपासना करे इस ज्ञान की दूसरा ज्ञानान्न पतश्च ऐसा ख्याति होती दूसरी बात जिसके पास ज्ञान हो और अन्न हो उसकी ख्याति होती है इसलिए श्रीश्च के उपासित यश मान की उपासना ज्ञान और अन्नवान जो होगा ज्ञानवान होगा अन्नवान होगा उसका यश मान ख्याति भवती भी यशो हेतुत्व यश का हेतु भी वही है इसलिए यश यश कहा यशस्त अतः ताभ्यम गुणाभ्यम उपासित दो गुण का आधान करके स्त्री और यश गुण का आधान करके ज्ञान की उपासना करे माने ज्ञान उपाधिक ब्रह्म की उपासना करे यह अर्थ होगा इत्यादि समान कहा टीका से देखते वीरवत कर्म कुर्बन यदि संबंध वीरवत कर्म कुर्बन ज्ञान उसको ज्ञान क्यों कहा बलशाली कर्म करता है इसलिए उसको ज्ञान कहते हैं जो बलशाली कर्म करना हो तो प्राण और अपान के संधि को रोकना होता है रोकने की जो संधि अवस्था है उसी का नाम ज्ञान है वायु तो एक ही है अध्यात्म वायु एक है किंतु भिन्न भिन्न प्रकार के पांच प्रकार के क्रिया करने के कारण इसको पांच प्राण कहा श्रवण अपान ध्यान श्रवण उदान ऐसा नाम दिया गया वायु अध्यात्म वायु एक ही है एक भौतिक वायु बाहर है एक अधिदैव अधिदैव वायु जो अग्नि आदि का माने आहुति लेने वाला वायु अधिदैव वायु है भौतिक वायु जो ऑक्सीजन का काम कर रहा है हमें और ये अध्यात्म वायु है भीतर में वायु है किंतु एक ही वायु है भीतर किंतु पांच प्रकार के क्रिया करने से पांच नाम प्राप्त होता है ऐसा है तो वीरवत कर्म पूर्वक इसी संबंध है वीरवत कर्म करता हुआ उसको ज्ञान कहा एक विग्रह दिया अथवा दूसरा विग्रह दिया था कि ज्ञान क्यों कहा प्राणापानो विगृह ऐसा कहा था विगृह व प्राणापान उसी का अर्थ करते हैं प्राण और अपान को विग्रह करके विरुद्ध करके अलग अलग रहता है अपान को नीचे प्राण को ऊपर कर देता है बीच में बैठकर प्राणापान और विगृह विरुद्ध अयम अनिति यदि पक्षांतर में दूसरा पक्षांतर है इसलिए उसको ज्ञान कहा तीसरा देती है नानास्कंद संधि शुरू विविधम अनिति इति चेष्टा देती विकल्प ये भी एक विकल्प है नाना मर्म प्रदेश जो संधि आदि स्थान है वहां पर नाना प्रकार से चेष्टा करता है इसलिए उसको ज्ञान कहा जाता है ज्ञान के तीन प्रकार का विग्रह है तेरह व्यान संबंध स्रोत्र कहते उस ज्ञान के साथ संबंध स्रोत्र इंद्रिय का कैसे स्रोत देवता और ज्ञान वायु का क्या संबंध है कहते हैं श्रुति तत्व श्रुति ने बोला है तो श्रुति में सिद्ध आएगी ध्यानार्थो मंतव्य इसलिए उपासना के लिए मानना पड़ेगा श्रुति में कहा हुआ है सव्याना सस्रोत्रम ऐसा बोला है श्रुति ने कह दिया श्रुति ने कहने से उसे स्रोत्र मान के उपासना करना है ध्यानार्थ मंतव्य उपासनार्थ ध्यानार्थ में उपासनार्थ उपासना के लिए श्रुति ने कहा करके उसको मान लेना वास्तव में स्रोत्र इंद्रिकर और ज्ञान का कोई संबंध तो दिखता नहीं है फिर भी श्रुति ने कहा यथा स्रोत्र से ज्ञान द्वारा संबंध जैसे स्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान के ज्ञान के माध्यम से संबंध मानेंगे ज्ञान के साथ संबंध है तथा चंद्रमसो चंद्रमा का भी ज्ञान के साथ स्रोत्र के साथ संबंध है तेरह संबंध से श्रुति उत्तर श्रुति ने कहा है इसलिए एवं ज्ञानार्थतया ग्रह्या तो चंद्रमा भी उसी को मानना स व्याना स श्रोत्र स चंद्रमा बोला ये उपासना के लिए ग्रहण करना चाहिए गुण का आधान करना है तथा इत्यादि का तथा से चंद्रमा कहा श्रोत्र चंद्रमसो संबंधे श्रुत्यंतरम अनुकूल है श्रोत्र और चंद्रमा का संबंध में श्रोत्र का चंद्रमा का कोई संबंध है क्या संबंध इसमें अन्य श्रुति का अनुकूल करते हैं अन्य श्रुति प्रमाणित करते हैं क्या कहते हैं स्रोत्र सृष्टा विशिष्ट चरमाश्रय स्रोत्र इंद्र के द्वारा उस विराट पुरुष के स्रोत्र हमारे स्रोत्र है और तो विराट पुरुष ने अपने स्रोत्र के द्वारा स्रोत्र इंद्र के द्वारा दिशा का और चंद्रमा की सृष्टि की ऐसा कहा ये कहते हैं किसने किया होगा सृष्टि का यह विराज स्रोत्र जो विराट का स्रोत्र हमारा स्रोत्र नहीं जो समष्टि थोड़ा अभिमानी का विराट है उसका जो स्रोत्र है यद विराज स्रोत्र जो विराट महापुरुष का स्रोत्र है तदात्म वो स्रोत्र रूप से दिशश्च चंद्रमाश्च इति श्रेष्ठ और स्रोत्र रूप से वो विराट पुरुष ने क्या किया दिशा और चंद्रमा ये दोनों की सृष्टि की इति श्रुति है ऐसा दिया मिथ संबंधे भी कथम अनयोर ज्ञानात्मत्व चलो ठीक है दिशा और चंद्रमा का परस्पर संबंध हो गया दोनों एक ही पुरुष ने सृष्टि की है ठीक है किंतु फिर भी इनको ज्ञान कैसे इनको ज्ञान कैसे मानेंगे हम ज्ञान वायु कैसे मानेंगे ज्ञान के साथ क्या संबंध होगा श्रोत्र और चंद्रमा तो एक ही पुरुष के द्वारा श्रेष्ठ है ठीक है संबंध मान लेते हैं किंतु मिथर संबंध है भी परस्पर दिशा और चंद्रमा का संबंध होने पर भी कथम अनयर ज्ञानात्मक ये दोनों स्रोत्र और चंद्रमा में ज्ञान स्वरूपता कैसे तो कहा ज्ञानात्मक ये प्रश्न है यहाँ शंका है आगे उत्तर देते हैं ध्याने तृप्यति इत्यादि वाक्य शेषात इत्यादि आगे देखो पंचम अध्याय के बीसवें खंड में जब आप जाएंगे पंचम अध्याय होगा विषम खंड में वहां पर कहेंगे बयान तृप्यति श्रोत्र तृप्यति श्रोत्र तृप्यति चंद्रमा तृप्यति चंद्रमा तृप्यति दिशा तृप्यति और दिशा तृप्यति यज्ञ चंद्रमा से दिशा से अभितिष्ठम की तृप्त ऐसा आएगा सारा तृप्त होते हैं आया हुआ ये संबंध ये लिखा व्यालय तृप्यति इत्यादि वाक्य पंचम अध्याय के विषमय खंड में आएंगे वहां इसका संबंध आएगा वहां यही टीका को बोल रहे उत्तर दे रहे व्यालय तृप्यति इत्यादि वाक्य शेष आदि वाक्य शेष है व्यालय तृप्यति हाँ, स्रोत्र स्रोत्रम तृप्यति स्रोत्रम तृप्यति स्रोत्र तृप्यति चंद्रमा तृप्यति चंद्रमा तृप्यति दिशा तृप्यति इत्यादि वाक्य आएगा उसके साथ संबंध है इस के शेष से पता लगता है व्याम के साथ इनका संबंध है दिशा का चंद्रमा का एक <clears throat> पूर्ववत बोल दिया ठीक है कहते तदेत व्याख्यानम तदेत वही जो व्याख्या है तदेत पूर्ववत बोल दिया था तदेत तदेत व्याख्यानम ब्रह्म सृष्ट यशस आभ्यम गुणाभ्यम है तदेतम व्याख्यानम ब्रह्म जो व्याख्या ब्रह्म है जो जिसकी व्याख्या हो रही जिस ब्रह्म की ज्ञान रूप से ब्रह्म की चर्चा हो रही है वो ब्रह्म क्या स्त्री और यश के दो गुण का आधान करके उपासना करके उस ब्रह्म की कहा तदे तद व्याख्यान व्याख्यान व्याख्यान ब्रह्म व्यानाख्यम ब्रह्म वो जो ज्ञान नामक ब्रह्म है वो ब्रह्म स्त्रीश्च यशस्थ आभ्यम गुणाभ्यम बहुत स्त्री और यश के दो गुण का आधान करके उस ज्ञान नामक ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए कहा कथम तस्य गुण दो बतो ध्यानम इतिहास आशा क्या उस ज्ञान नामक ब्रह्म में दो गुण वाले का ध्यान उपासना कैसे करनी ज्ञान नामक प्राण ज्ञान नामक जो ब्रह्म है यहां ब्रह्म की उपासना करनी है ज्ञान रूप से कथम तस्य ज्ञान नामक ब्रह्म गुणा दो बतो दो गुण है जिसने दिया श्रीश्च यश उपासिक बोला हुआ है ज्ञान कैसी उपासना करे शंका आ गई तब कहते हैं देखो इसलिए करना है स्रोत्र से ज्ञान हेतु स्रोत्र इंद्रिय ज्ञान का कारण है स्रोत्र से हम शब्द सुनते हैं घट पट मठ इत्यादि शब्द सुनते हैं हम तब तक वस्तु की जानकारी होती है ज्ञान का कारण है स्रोत्र शब्द सुनने पर वस्तु का ज्ञान होता है ज्ञान का कारण है स्रोत्र से ज्ञान हेतुत्वाद चंद्रवसो अन्न हेतुत्वाद और चंद्रमा जो है अन्न का कारण है स्थिति है पुष्पाणी चौषधि सर्वा सोमो द्वार है चंद्रमा जब रात्रि में सूर्य के किरणों से दिन भर जल जाते हैं रात्रि को अमृत का छिड़काव करके अन्न को पैदा करने वाले हैं चंद्रमा अन्न का कारण है चंद्रमा इसलिए श्रोत्र हो गया ज्ञान का कारण चंद्रमा हो गया अन्न का कारण इसलिए तयोर आश्रय पेय तदात्मनो ज्ञान से उन दोनों का जो आश्रय है ज्ञान तदात्मनो ज्ञान से अभी उस ज्ञान का भी गुण तो उपत्ति है तो गुण आ जाएगा वहां स्त्री और यश गुण ज्ञान में आ जाएगा एक एक कहा स्रोत्र इत्यादि कहा स्रोत्र तो सर्वस्व ज्ञानान हेतुत्व अतस्ताभ्याम श्रीत्वम इत्यादि बोला था ठीक है कहते हैं ज्ञानाख्य ब्रह्मणी गुणांतरम सा दूसरा गुण है यशस्च स्त्री और यश दो गुण से उपासना करनी है उसका कहा ज्ञान अन्नबत यश ख्याति भगवती ये नियम है जहां ज्ञान होगा जहां अन्न होगा उसकी यश हो जाए ख्याति बढ़ जाती है इसलिए यश रूप से उपासना होती है ठीक तो कहा था भगवती यशो हेतुत्वाद यशस्तम अथस्ताभ्यम गुणाभ्याम उपासना यश भी है वो ज्ञान इसलिए यश गुण से भी उपासना करें दो गुण है स्त्री और यश ठीक हम कहते हैं उक्त से ब्रह्मणो गुणदय संभव हो अथ सवता अथ शब्द दिया है तो यह अतस्ताभ्याम का अर्थ है उक्त से ब्रह्म जो व्याम नामक ब्रह्म है उसका गुणद्वय संभव अतस्त बता दोनों गुणों की संभावना है श्री और यश ऐसा एक कहा अत शब्द का श्रीमान इत्यादि भगवान के आदि शब्द आता और वो भी क्या होगा व्यक्ति जो उपासना करेगा श्रीमान होगा और यशस्वी होगा जैसे गुण वाले को उपासना करेगा वैसे गुण वाला हो जाएगा श्रीमान ये भगवती यशस्वी भगवती इत्यादि फलवाक्य है इत्यादि फलवाक्य में आदि शब्दार्थ कहा समानम तेजस्वी इत्यादि वाक्य ना यह समानम बोल दिया पूर्व में जो प्राणोपासना के समय में तेजस्वी भगवती अन्नादो भवती अन्नाद्यो भवती ऐसा आया था उसके समान उसके समान है ये जैसे वहां था वैसे यहां भी है हाँ, यहां गुण अलग है वहां गुण था तेजस्वी गुण और अन्नादि रूप गुण से उपासना कर रहे थे और यहां श्री और यश इतना भेद है कहा आगे मंत्र है अतयोश्च प्रत्यम सुषी सोपान सात सो अग्नि तदेतद ब्रह्मवर्चसम अन्नाद्यमिति उपासीत ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मवर्चसी अन्नादो भवति य एवं वेद अतयोश्च प्रत्यं सुषी सोपान सावा सो अग्नि तदेत ब्रह्म ब्रह्मवर्त सम अन्नाद्यम यदि उपासित ब्रह्मवर्तश्चन्नादो वेद अतः यो अश्य प्रत्यम सुशी यो अश्य हृदय से जो हृदय हमारे पास है इसका जो पश्चिम दिशा का क्षेत्र है तो वहां छिद्र माने क्या है स्व अपान माने तस्था अपान उस छिद्र में रहने वाला अपान या लक्षण करना स्व माने को नहीं लेना तस्था पश्चिम दिशा में जो छिद्र है सुशील है सुशी है उसमें रहने वाला वायु अपान है लक्षणावृत्ति करना तस्था अपान सा बाघ कोई बाघ है जो अपान है वही बाघ है सो अग्नि वही अग्नि है क्योंकि अपान में बाघ आश्रित है बाघ में बाघ बाघ में अग्नि आश्रित है अग्नि तदेत वो जो अपान नामक ब्रह्म है तदेत ब्रह्म अपान नामक ब्रह्म ब्रह्म वर्चसी वर्चसम अन्नाति बुद्धिपा दो गुण का आधान करके उसकी उपासना करें अपान नामक ब्रह्म की एक तो ब्रह्म वर्चस्य गुण ब्रह्म वर्चस गुण कांति गुण और दूसरा अन्नाथ कांति दो प्रकार के आचरण संजनित और स्रोत विद्या जनित वेद पठित हो आचरण करता हो उसमें तेज आता है ब्रह्म तेज बोलते हैं उसको ऐसा तेज है अन्नादे उसकी उपासना करेगा और दूसरा अन्नाद्यम अन्नम च तद आद्यम च खाने योग्य अन्न को अन्नाद्य बोलते हैं कि दो गुणों का आदान करके उपासना करेंगे फल वही होगा ब्रह्मवत्य से अन्नादो भवती वो भी स्वाध्याय और आचरण से जनित तेज से युक्त होगा स्वाध्याय जनित तेज ब्रह्मवर्चस बोलते हैं जिसको और एक आचरण आचरण से सभी लोग डरते हैं आचरण वाले के पास एक तेज होता है लोग दब जाते हैं तो ब्रह्मवर्च से अनाद बहुत ब्रह्मवर्च तेज से युक्त होगा और अन्नाद होगा खूब धृप्तावनी होगा खाने वाला होगा या युग वेदा या ऐसी जो उपासना करता है टीका भी कहते हैं हृदय से अधिक अवस्थित सुश्री संबंधत्व अपानो बाघ बाघ अग्निश्चय हृदय अन्य संबंधम धैर्य हृदय के पश्चिम दिशा में व्यवस्थित जो सुशी है छिद्र है उसके साथ संबंध है अपान का सुशी संबंध और सुशी के साथ संबंध प्रेम संबंध होने से अपान हो अपान नामक ब्रह्म की उपासना होगी जो अपान बाघ अग्नि से यहां भी तीन है अपान है बाघ है अग्नि है अपान और बाघ इंद्रिय और बाघ इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता अग्नि ये तीनों का अन्योन्य संबंधम देगा एक दूसरे का संबंध अपान के साथ संबंध बाघ के साथ है वाक्य के साथ संबंध अभिन्नता है ये, ये कहना चाहिए कहते हैं अतः यो अश्य इत्यादि भाषण में कहा अतः यो अश्य प्रत्यम सूची अश्य माने हृदय से ये जो हृदय है इस हृदय का जो पश्चिम दिशा का क्षेत्र है पश्चिम सुशी माने प्रत्यम सूची माने पश्चिम पश्चिम वाला सूची है तस्थ उसमें रहने वाला तस्मिन तिष्ठती तस्थ उस पश्चिम दिशा में रहने वाला क्षेत्र में रहने वाला वायु विशेष है वो पांच प्रकार के वायु है भीतर एक विशेष वायु है वो वायु विशेष है सर मूत्र पुरुषादि अपनयन अधो अनेकिति अपान मूत्र पुरुष आदि को पुरुष आदि को नीचे ले जाता है मलमूत्र को नीचे ले जाता है नीचे की तरफ जाता है मलमूत्र विसर्जन करने के लिए इसलिए अपान कहा मान नीचे अधो अनेकिति अपान नीचे की तरफ जाने से अपान ये एक उसको अपान क्यों कहा था मूत्र पुरुषादि अपनयन मूत्र पुरुषादि को हटाते हुए नीचे धकेलते हुए अधो कहा अपनयन तो अधो अपनयन नीचे करते हुए अनेक ऐसा चेष्टा करता है इसलिए अपान कहा सा बाघ वो जो अपान है वही बाघ है बाघ इंद्र वही है तत्संबंध क्योंकि अपान के साथ बाघ का संबंध है हाँ, अपान के साथ बाघ का संबंध तत्संबंधात कहा तथा अग्नि उसी प्रकार वाक के साथ अग्नि का संबंध है अग्नि अधिष्ठाधिक देवता है वाणी के तदेत ब्रह्म वर्चसम तदेत ब्रह्म तो तदेत अपान नामक ब्रह्म है अपान नामक ब्रह्म है उस ब्रह्म की उपासना करे दो गुण का आधान करके ब्रह्म वर्चसम और अन्नाद्यम दो गुण का आधान करके ब्रह्म वर्चसम मैंने क्या है ब्रह्म वर्चसम मैंने वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्म वर्चसम वृत्त माने आचरण और स्वाध्याय प्रसिद्ध ही स्वाध्याय जो अध्यात्म शास्त्र का पठन पढ़ता हो उसे लोग डरते हैं दबते हैं लोग झुकते हैं उसे पठित व्यक्ति से और दूसरा वृत्त मान स्वाध्याय आचरण आचरण है जिसके पास वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्मवर्चस समझे ब्रह्मवर्चस ही गुण आएगा ब्रह्मवर्चस का अर्थ मतलब शरीर की कांति नहीं छवि नहीं मैंने स्वाध्याय और आचरण जनित जो तेज होगा एक उसको कहा ब्रह्मवर्चस्व अग्नि संबंध ब्रह्म स्वाध्याय से कहते होगा आचरण और स्वाध्याय जो अग्नि के साथ संबंधित है जब स्वाध्याय करने वाले को हवन करना है ब्रह्मचारी होगा हवन करेगा और आचरणशील व्यक्ति अग्निहोत्रादि हवन करेगा ही अग्नि के बिना नहीं रहता अग्नि संबंध है उसके साथ वृत्त के साथ और स्वाध्याय के साथ अग्नि संबंधात वृत्त स्वाध्याय से अग्नि के साथ संबंध है उसमें ब्रह्मवृत ऐसा है अन्नग्रसन हेतुत्व अपान से अन्नाद्यत्व देखो भोजन को नीचे ले जाने का काम अपान वायु करता है अन्न का ग्रसन का कारण है अन्न का खाने का काम, काम करता है इसलिए उसको अन्नाद्य गुण है वहां कौन गुण है अन्नाद्य गुण अपान वायु में है ये कहते हैं अन्न दर्शन हेतु अपान से अपान वायु जो है अन्न का खाने का काम करता है हेतु है अपान वायु से ही भीतर जाने ग्रास भीतर जाते हैं अपान वायु के द्वारा ले जाते हैं इसलिए अन्नाद्यत्व तो गुण है उसमें तो अन्नाद्यत्व तो गुण वाले की उपासना करेगा तो अन्नाद्य होगा वृत्तावृत्ति वाला होगा एक <clears throat> समान अमित करके छोड़ दिया ठीक है कहते हैं स्व अपाना इतने अर्थम आह स्व अपाना बोला हुआ मंत्र है किंतु उसका अर्थ करते हैं तस्था बोला क्या बोला वही अपान नहीं पश्चिम दिशा का छिद्र अपान नहीं है वो छिद्र में स्थित जो होगा वो अपान लक्षणावृत्ति करनी क्योंकि वहां तो सो अपान बोल दिया या पश्चिम सुशी अपान जो पश्चिम दिशा का छिद्र है वो अपान है मंत्र तो ऐसे दिखता है किंतु वहां पर पश्चिम दिशा का छिद्र जो है अपान नहीं है उसमें रहने वाला वायु अपान है लक्षणावृत्ति करना स्व अपान एक संबंध तस्थ स्व अपान उस ये कहा अपान शब्दम वायु विशेष है वित्पादित अपान शब्द जो है वायु विशेष में पांच प्रकार के वायु में से एक वायु विशेष है व्युत्पादयति मूत्र पुरुषादि अपनयन अधो अनिति अपान बुत्र पुरुषादि को नीचे के तरफ धकेलते हुए नीचे के तरफ फेंकते हुए चेष्टा करता है फेंकता हुआ इसलिए उसका नाम अपान पड़ा ठीक है आदि शब्द ना शुक्र आदि लेते आदि शब्द से शुक्र सोनित आदि का भी विसर्जन करता है वो यह लेना कहा यथा चक्षुषा स्रोत्र से प्राणत्व ध्यानत्व च उत्तम तो जैसे यथा चक्षुषा स्रोत्र से प्राणत्व ध्यानत्व यथा चक्षुषा प्राणत्व स्रोत्र से ज्ञानत्व ऐसा अन्वय कर जैसे जैसे चक्षु को प्राण कहा था प्राण और प्राण तो दिखाया था और स्रोत्र में व्यानत्व तो दिखाया था उसी प्रकार बाघ अपानो भवती उसी प्रकार बाघ अपान हो जाएगा जैसे चक्षु प्राण करके कहा था स प्राण स चक्षु तत्चक्षु स आदित्य ऐसा बोला था वहां ठीक इसी प्रकार यथा चक्षुष प्राणत्व और स्रोत्र से व्यानत्व ठीक इसी प्रकार उत्तम तथा बाघ अपानो भवती बाघ भी अपान हो जाता है अपान के साथ वायु का वाणी का संबंध है अपानुभवती भवती अपानुभवती क्यों आगे इक्कीसवें खंडे पंचम अध्याय के इक्कीसवां खंड में आएगा अपाने तृप्यति इत्यादि आएगा अपाने तृप्यति बाघ तृप्यति बाघ तृप्यति <clears throat> इत्यादि आएगा ये सब आ जाएगी बात वहां ये कहा सात अथा इत्यादि बोल दिया सात अथा यदा चक्षुरादि द्वारेण आदित्यादि प्राणादि रूपतम उत्तम जैसे चक्षुरादि के माध्यम से आदित्यादि प्राण रूप है आदित्य सीधा प्राण में नहीं जा सकता आदित्य का संबंध चक्षु में है और चक्षु का संबंध रूपादि के साथ है और रूपादि जो है भीतर जाते हैं माने वृत्ति के रूप में भीतर है प्राण में पहुंच जाते हैं इस तरह आदित्य पहुंचता है प्राण में कहा था पहले सीधा सीधा आदित्य प्राण में नहीं जा सकता है आदित्य का संबंध चक्षु के साथ है चक्षु का उपकारक है हाँ, और चक्षु का संबंध रूप के विषय के साथ है और रूप जो है प्रतिबिंब के रूप में फोटो के रूप में भीतर जाता है इस रूप से भीतर पहुंच गया आदित्य ऐसा कहा था इसी प्रकार यहां भी बोलते हैं यथा चक्षुरादि द्वारेणा आदित्य आदि प्राणादि रूपत्व तो जैसे आदित्य आदि का चक्षुरादि के माध्यम से प्राणादि रूप कहा में ठीक इसी प्रकार तथा बाचो अधिष्ठातृत्व संबंधा अग्नि तद्वारे अपान होती बाणी का अधिष्ठात्री देवता है अग्नि तो बाणी के माध्यम से अपान हो जाता है अग्नि अग्नि का संबंध सीधा अपान में नहीं है अग्नि का संबंध बाणी में और बाणी का संबंध अपान में ये कहा तत्सबंध इत्यादि कहा ठीक है कहते हैं तदे तद अपानाख्यम ब्रह्म वो जो अपाना अपान नामक जो ब्रह्म की चर्चा चल रही हो ब्रह्मा ब्रह्मवर्चसम अन्नाद्यम इति आभ्याम गुणाभ्याम विशिष्टम उपासित इति संबंध ये जो अभान नामक ब्रह्म की दो गुणों का आधार करके उपासना करनी चाहिए एक तो ब्रह्मवर्चस गुण और एक अन्नाद्य गुण दो गुणों का आधान करके ब्रह्मवर्चसम व्याचस्ट ब्रह्मवर्चस क्या है कभी कभी ब्रह्मवर्चस शब्द का है शरीर के छवि को भी बोलते कांति को कभी कभी आता है किंतु यहां ऐसा नहीं लेना उसके व्याख्या करते हैं तृप्त स्वाध्याय निमित्त हो क्रमवर्तसम आचरण जनित तेज और स्वाध्याय जनित तेज दो प्रकार के तेज प्रगल प्रागल में जो आ जाता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति झुकते हैं उसके सामने उसी तेज का नाम ब्रह्मवर्चस्व ठीक है कहते हैं कथम अपानाख्य ब्रह्मणी यथोक्तो गुण सिद्ध की अपान नामक ब्रह्मणे ये जो गुण कैसे सिद्ध होगा ब्रह्मवर्चस गुण और अन्नाद्य गुण कैसे सिद्ध होता है ये प्रश्न आया प्रथम अपानाख्य ब्रह्मणी यथोक्त तो गुण सिद्ध थी यथोर्थ गुण ब्रह्मवर्चस गुण अन्नाद्य गुण कैसे सिद्ध होगा इस शंका करके कहा अग्नि संबंधात वृत्त स्वाध्याय से बोलते क्योंकि जो भी हम आचरण जो करते हैं माना सनातनी लोग जो आचरण करते हैं अग्नि के संबंध से उनके आचरण होता है और स्वाध्याय भी माने अग्नि के बिना नहीं होगा यही है ये टीका में भाषण आज कहते चलो ब्रह्म वर्चस्व गुण तो हो गया अपार और ब्रह्म में मान घटाए है अन्नाद्य गुण कैसे घटेगा तब कहते हैं तथा भी कथम अन्नाद्यत्व चलो ब्रह्म वर्चस्व होने पर भी फिर भी अन्नाद्यत्व गुण कैसे आएगा उसमें शंका इतिहास संख्या अपान द्वारे ना अपान के माध्यम से अन्नाद्यत्व गुण भी आ जाएगा ठीक है अपान द्वारे ना इतिहास अन्न दर्शन हेतुत्वाद अपान से अन्नात्व अन्नाथ गुण इसलिए है उपान क्यों अन्न भक्षण का काम वही करता है अपान वायु के माध्यम से भीतर निकला जाता है अन्न का ग्रसन का काम वही है वही करता है इसलिए अन्नाध्यत्व गुण है वहां ठीक है ब्रह्मवर्चसी इत्यादि फलवाक्यम श्रीमान इत्यादि तुल्यार्थत्वाद न व्याख्यान अपेक्षा व्यक्षण इत्या असमान ब्रह्मवर्चसी अन्नारो भवती यह आया फलवाक्य आया जैसा गुण वाले को उपासना करे वैसे होगा ये ब्रह्म तेज से युक्त होगा और अन्नाद्य होगा ये कहा ये उसके समान है किसके समान है तो कहा श्रीमान भगवती ऐसा आया था प्राण की उपासना में आया था श्रीमान श्रीमान भगवती अन्नाद्यम भगवती अन्नादो भगवती ऐसा आया था उसी के समान है ये वाक्य इसलिए न व्याख्यान अपेक्षा या व्याख्या की अपेक्षा नहीं करके कह दिया समानम बोलिए पूर्वक एक समान है ये आगे ठीक है <coughs> मंत्र है आगे <coughs> अतयोस्तु उदंशुषि समान तन्मन सपर्जन्य तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्च उपासीत कीर्तिमान व्युष्टिमान वेद अतयोश्च उदंशुषि समान तन्मन सपर्जन्य तदेतत्कीर्तिश्च दृष्टिश्च इति वेद अथ अनंतर यो अश्य उदम शिशि अश मन हृदय से जो हृदय है इसमें उदम शिशि उत्तर दिशा की तरफ जो छिद्र है स समाना माने तस्थ वायु समान ऐसा लेना या लक्षण करना लक्षणावृत्ति से लेना ससमान है तस्थ उसमें रहने वाला उत्तर दिशा के क्षेत्र में रहने वाला जो वायु है वो समान वायु है समान तन मन जो समान है वही मन है तन मन क्योंकि तीन तीन करके एक उपासना चल रही है स समान तन मन सपर्जन्य बरसने वाले जल को पर्जन्य बोलते हैं जो ऊपर से गिरने वाला जल जो होगा नेट के द्वारा नीचे आ रहा है उसको पर्जन्य कहते हैं वही पर्जन्य है तदेतत जो समान नामक ब्रह्म है वो ब्रह्म तदेतत ब्रह्म समान नामक ब्रह्म कीर्ति व्युष्टि चित उपासित उसकी उपासना कीर्ति गुण का आधान करके और व्युष्टि गुण व्युष्टि माने देहगत कांति सौंदर्य देह की सौंदर्य को व्युष्टि कहते हैं ऐसे कीर्ति और व्युष्टि दो गुणों का आधान करके उपास प्रत्येक में दो दो गुण का आधान है यहाँ कीर्ति और दृष्टि दो गुणों का आधार करके उपासना करते उसके फल यही होगा कीर्तिमान दृष्टिमान भवती है वेदा जो कीर्ति गुण वाले का करेगा तो वही भी कीर्ति वाला होगा और दृष्टि गुण वाले का करेगा तो दृष्टिमान होगा ध्यान की कांति से युक्त होगा कीर्ति वाला होगा ये कहते हैं टीका भी कहते हैं हृदय से उत्तर सूची संबंध समान हो मना पर्जन्य तृतीय परस्पर संबंध उपास्यम एक हृदय के उत्तर क्षेत्र के संबंधी होने से समान वायु समान है मन है पर्जन यह भी तीन है समान मन पर्जन तीन है तृतय तीनों का परस्पर संबंध उपासन परस्पर संबंधित है ये कैसे संबंध होंगे गया आगे दिखाएंगे अथ इत्यादि भाष्य में कहा अथ जो अश्य बुधम शिशि जो अश्य हृदय से जो हृदय का उत्तर दिशा के तरफ जो छिद्र है वहां शिशु उदगत उठा हुआ जो छिद्र है उत्तर की तरफ जाए जो छिद्र शिशु उदगत शिशु तस्थो वायु विशेष उस छिद्र में रहने वाला जो वायु विशेष है सह अशीत पीते समन्वय समान तो समान क्यों कहते हैं खाया पिया हुआ वो समान रूप से शरीर में फैलाने का काम करता है इसलिए उसको समान कहते हैं अशीत पीते खाया हुआ और पिया हुआ जो चीज हम काम करते हैं खाते हैं पीते हैं दोनों को समान रूप से विभाजन का काम करता है शरीर ब्लड प्रेशर के माध्यम से घुमाता है इसे समान कहा इसको समान कहते हैं इसलिए खाया पिया हुआ अन्न का रस को शरीर में घुमाता है क्यों शरीर हम जो अन्न खाते हैं जल पीते हैं जो भी करते हैं दो ही पदार्थ है खा मान या तो पेय भक्ष्य है दो ही है कोई भी खाओ पियो तो पेट में जाने के बाद में तीन भाग में वो विभाजित हो जाएगा जो जाठ भाग में पड़ेगा पेट में वहां जाने के बाद तीन भाग में एक तो ठूल भाग होगा एक बाष्पीकरण होगा मध्यम भाग होगा और एक सूक्ष्म भाग होगा तीन चीज होंगे उसमें जो स्थूल भाग होगा खाया हुआ अन्न का स्थूल भाग तो मल के माध्यम से निकल जाएगा पिया हुआ पानी का जो स्थूल भाग होगा पुत्र के माध्यम से निकल जाएगा स्थूल भाग ऐसा होगा जो मध्यम रस जो बाष्पीकरण होकर के जो हम खाते हैं हृदय में पेट में जाने जाठा दोबारा पकाती है उसकी दोबारा पकता है वो वहां पकता है पकने के बाद में उसमें बाष्पीकरण होगा बाष्पीकरण होने पर वो पित्त के माध्यम से होता है फिर नाभि के मुख में पहुंचेगा फिर वो समान वायु उसको शरीर शरीर में घुमाने का काम करेगा फिर रसाधिकरण से पहला रस नाम पड़ा फिर रक्त होगा फिर मांस होगा फिर वेद होगा ऐसे ऐसे करके शब्द धातु में परिणत होता रहेगा मध्यम भाग और सूक्ष्म भाग होगा अन्न के सूक्ष्म भाग से मन की वृद्धि होती है जल के सूक्ष्म भाग से प्राण की वृद्धि होती है और तेज की तेज अंश जो हम भक्षण करें दी उसके सूक्ष्म भाग से हमारी वाणी की वृद्धि होती है अन्नमय विश्वमय मना मय प्राण मई बाप छठे अध्याय में आएगा इसी में आएगा प्रसन्न आएगा सूक्ष्म भाग तो ऐसा चलेगा ये मध्यम भाग से हमारे शरीर की पुष्टि होती है रसादिक्रम से सप्त धातु बन करके शरीर की पुष्टि करते हैं सप्त धातु के माध्यम से शरीर उपजय होता है ये होता है ये कहना चाहते हैं ये कहा अतः जो अश्य उदम शिशि ही ये इस हृदय के जो उत्तर दिशा की तरफ छिद्र है उदगत सुशी जो उत्तर के तरफ सुशी है शीघ्र है तस्थ वायु विशेष उस उत्तर दिशा में स्थित जो वायु विशेष है मान विशेष काम करता है इसलिए उसका नाम उदाहरण पड़ा हुआ है समान पड़ा हुआ है स अशीत पीते समम नहीं थी समान वो वायु क्या काम करता है खाया और पिया हुआ का समान रूप से शरीर में वितरण करने का काम करता है मान ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं ना वही वायु काम धक्का दे रहा है वायु केंद्र से धक्का दे करके पूरे शरीर पर घुमा रहा हो जो आज के दिन में समझे थे जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं वायु है वो वो समान वायु है तत्संबद्धम मन उस समान वायु से संबंधित मन है अंतकरण मन माने अंतकरण सह पर्जन्य है वही पर्जन्य है दृष्टियात्मको देव जो दृष्टि रूप देवता है दर्शने वाले को पर्जन्य बोलते हैं ऊपर जाते से मेघ बोलते हैं जब गिरता है तो पर्जन्य बोलते हैं वृष्टियात्मको देव पर्जन्य निमित्ता स आप तो वृष्टियात्मको देव पर्जन्य निमित्ता स आप और जल के निमित्त जो होता है बरसने के लिए जल चाहिए जल है वो देखिए पर्जन्य का निमित्त जल होता है तो वही पर्जन्य कहा वही मन कहा पर्जन्य कहा कैसे ये पर्जन्य कैसे होगा समान वायु के साथ इसके साथ मन का और पर्जन्य वायु का क्या पर्जन्य जो जल का क्या संबंध है मन का और माने समान का मन के साथ संबंध है और मन का पर्जन्य के साथ संबंध दिखाना है तो कैसे पर्जन्य का और मन का संबंध होगा कहा मनसा सृष्टा आपस्य वरुणसा ऐसा आया है कई स्तुति है उस प्रजापति ने ब्रह्मा जी ने माने विराट पुरुष ने अपने मन से सृष्टि किया दो को किसको जल को भी और जल के जो अधिपति देवता है वरुण जल के नायक है अधिपति देवता है दोनों को सृष्टि किया मन से माने विराट ने हमारे ने हमने नहीं मनसा सृष्टा विराट के मन से सृष्ट हुए हैं ये कौन आपस वरुण से जल और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण दोनों ऐसा स्थिति है इसलिए <clears throat> मन का और जल का संबंध है ये श्रुति के आधार पर संबंध है तदेत वो जो समान नामक ब्रह्म है वो ब्रह्म तदेतत ब्रह्म कीर्तिश्च दृष्टि से उपासित ऐसा है कीर्ति और दृष्टि दो गुण का आधान करके उपासना करे मनसो ज्ञान से कीर्ति हेतुत्व जो मनोवैज्ञानिक होता है ना जो व्यक्ति जो दूसरे के मन को जानता है मनोवैज्ञानिक होता है वो कीर्ति का कारण है मन का ज्ञान दूसरे के मन को जानकारी बढ़ाए उसकी बढ़ाव होगी कीर्ति का कारण है मनुष्य ज्ञान से कीर्ति हेतु मन के जो ज्ञान होगा माने दूसरे के मन को जानता अपने मन को तो सभी जानते हैं उससे कीर्ति कुछ नहीं है किंतु दूसरे के मन को जानता हो जो साइकोलॉजी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ऐसा वो जानता है उसकी ख्याति होती है बड़ा बहुत बड़ा आदमी है ऐसा हो जाता है मनुष्य ज्ञान से कीर्ति मन के जो ज्ञान कीर्ति का कारण है आत्मपरोक्षम विस्तृतत्व कीर्ति यश स्वकर संवेदम विस्तृतम दृष्टि कहते हैं कि आत्मपरोक्षम विस्तृतम कीर्ति यश ये जो कीर्ति और यश में क्या अंतर आता है प्रश्न आएगा कीर्ति पहले यश ध्यान में आया था यश समान अपान में आया था यशमान के उपास में आया था यशमान करके उपासना कर और यहाँ ये ये कह रहे कीर्ति मान की उपासना करने कीर्ति और यश में क्या फर्क है कहते हैं आत्म परोक्षम विस्तृतत्व कीर्ति जैसे अपने परोक्ष में जो ख्याति प्राप्त हो लोग बार बार बोलते हो आपके विषय में उसका नाम है कीर्ति और स्वतः समृद्धम विस्तृतत्व ये ये होगा आपका यश होगा यश माने क्या है अपने सामने कोई प्रशंसा करता आपकी पर वो यश है यश आपके सामने गाया जाता है कीर्ति बाहर होती है आपके पीछे आपकी कीर्ति के लोग ऐसा ये दोनों को भेद है कहा अच्छा कीर्ति यश स्वकर्म संवेद्यम यश जो होगा स्वकर्म संवेद्य होगा ये भेद है कीर्ति और यश में ये समान है भेद है क्योंकि पहले व्यायाम में आया था यश यश करके उपासना करना चाहिए ऐसा है और यह असमान और यह आ गया कीर्ति करके तो कीर्ति और में क्या भेद होगा भेद कर दिया वासिकार ने आत्मा परोक्षम विस्तृत तत्व कीर्ति ये कीर्ति करता है अपने परोक्ष में जो लोग इसका ज्ञान करते हैं ख्याति है परोक्ष में उसका नाम है कीर्ति और यश माने यश स्वकर्म संवेद यश माने होता है अपने अपने सामने अपरोक्ष में जो ख्याति होगी यश है ये दो भेद है कहा आगे व्युष्टि तो प्रसिद्ध है व्युष्टि के माने क्रांति गठन लाभ देह की जो सौंदर्य है इसका नाम व्युष्टि है कीर्ति से बृष्टि से उपासिता है बृष्टि माने शरीर के सौंदर्य ततश्च कीर्ति संभवात कीर्ति से क्योंकि देखो शरीर के सुंदरता से भी कीर्ति होती है ख्याति होती है बड़ा अच्छा व्यक्ति सुंदर व्यक्ति है करके बोलते हैं लोग ततः शरीर के क्रांति से कीर्ति संभवात कीर्ति घन से कीर्ति से कीर्ति कहा समान मंडत बाकी पूर्व जैसा ये बोल दिया ठीक है कहते हैं समान संबंध स समान ये संबंध लगाना कहा समान शब्द हम वायु विशेष से व्युत्पादी पांच प्रकार के वायु भीतर है तो एक विशेष वायु में समान शब्द की व्युत्पत्ति बताया उन्होंने क्या कहा जो खाया हुआ और पिया हुआ को समान रूप से वितरण करने का काम करता है पूरे शरीर में इसलिए उसका नाम समान कही है <clears throat> ये बता दें ठीक है मनस समान संबंध समान तृप्यति इत्यादि वितरण बताइए मन का समान के साथ संबंध कैसे होगा समान का और मन का संबंध क्या होगा कहते पंचम अध्याय पढ़ना पड़ेगा तो पता लग जाएगा समान तृप्यति मनस तृप्यति ऐसा आएगा और मनस्तिप्यति पर्जन्य स्थित्यति ऐसा वाक्य आएंगे वहां यही स्थिति प्रमाण है पंचम अध्याय के साथ इसका संबंध है यही कह रहे हैं मनस समान संबंध मन का समान के साथ संबंध क्या है तो कहा समान तृप्यति इत्यादि सुनकर क्या है पंचम अध्याय में आएगा ये चौबीसवें खंड में होगा या पच्चीसवें खंड में होगा पंचम अध्याय में समान तृप्यति मनस्त्रिप्यति मनस्त्रिप्यति पर्जन्य तृप्यति इत्यादि वाक्य आएगा स्मृति के आगे स्मृति से ही मानना पड़ेगा क्योंकि तो स्मृति के आधार पर ही लेना पड़ेगा तत्सबंधम इत्यादि कहा तत्सबंधम मनो अंतकरण सपर्जन्यो हो जो कहा मन से तृप्ति पर्जन्य तृप्ति वाक्य शेषम आश्रित तय संबंध कहा मन के तृप्त होने पर पर्जन्य की तृप्ति वह वाक्य शेष पंचमाध्याय में आएगा ये हम्म। पंचमाध्याय में आप पढ़ेंगे मन की तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्त होता है वाक्य यही से मानना पड़ेगा मन का और पर्जन्य का संबंध है ये मानना पड़ेगा आपको क्योंकि आगे श्रुति पंचम अध्याय श्रुति ऐसे आएगा मन के तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्त होता है तो दोनों संबंध है तब तो, तो तृप्त हुआ एक एक के तृप्त होने से दूसरे तृप्त हो रहा है यही संबंध है वाक्य से लेकर संबंध पर्जन्य दृष्टियात्म देगा इत्यादि बोल दिया है ठीक है श्रुत्यंतराद अभी तभी संबंधम वक्तुम पातनिका महा अन्य श्रुति से भी दोनों का संबंध देने के लिए कहते हैं पर्जन्य निमित्ता आप जल जो होता है ना यहाँ हमारे लिए जो जल मिलता है पर्जन्य के निमित्त से होता है ऊपर से गिरेगा तो हमारे यहाँ जल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलता पर्जन्य निमित्त आप अन्य श्रुति है पर्जन्य के निमित्त से जल होता है यदि पर्जन्य न हो तो हमें जल नहीं मिलेगा ऊपर से बरसेगा नहीं तो हमारे पास पानी नहीं है पर्जन्य निमित्त आप अन्य श्रुति है शेष प्रसिद्ध परामर्शार्थ सार्थक तो मनसा सृष्टा आपस में बर्व से श्रुते है ऐसा आया तथापि तथा प्रथम पर्जन्य मनुष्य संबंध सिद्धि फिर भी महाराज ठीक है कि पर्जन्य और मन का संबंध की सिद्धि कैसी हो गई शंका कहा कारण अग्नि संबंधा तद द्वारा विधो तत्सिद्धि वायु भी कारण वायु भी कारण है उसमें जब बारिश होने के वायु पूर्वी पूर्वी हवा होती है वायु भी कारण ना भी संबंध हाँ, जल के साथ वायु का भी संबंध है इसलिए तद द्वारा वायु द्वारा विधो तत्सिद्धि मन और पर्जन्य का वायु के द्वारा सब सिद्धि हो जाएगी कहा मनसो ज्ञान स्वीकृति इत्यादि ठीक है तदेत आगे तदेत तत् समानाख्यम ब्रह्म कीर्ति से दृष्टि से आभ्याम गुणाभ्याम उपासी के संबंध वही जो ब्रह्म है उसकी इस प्रकार उपासना करे इत्यादि कहा तस्मिन ब्रह्म ने कीर्ति रूप गुण साधेगी उसमें ये उस ब्रह्म में कीर्ति रूप ब्रह्म गुण की साधना करते हैं ये क्या समान नामक ब्रह्म में कीर्ति नामक गुण की सिद्ध करते हैं मनसो ज्ञान से कीर्ति हेतुत्वाद मन के जो जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होगा कीर्ति के कारण हो जाता है लोग ख्याति गाते हैं उसकी व्युष्टेर अर्थांतरत्म कीर्तिर दर्शेगी दुष्टि से कीर्ति अलग है एक ही चीज नहीं है दुष्टि अलग है कीर्ति अलग है एक कहा आत्म कहा आत्म परोक्षम विस्तृतत्म कीर्ति यश इत्यादि तदो व्युष्टे आचष्टे स्वकर्म समझते विस्तृतत्व दुष्टि इत्यादि कहा तामेव अनुभवारूढ़तया कथयती दोनों के मानिए ये दोनों की कीर्ति और दृष्टि के अनुभव में आरूढ़ करके कथन करते हैं कांति इत्यादि बोलते हैं कांति देहगत तो लावण्यम उसी को कहा दृष्टि का अर्थ कांति देह की सौंदर्य शरीर का सौंदर्य है कथम पुनर्देहगत से लावण्य से कीर्ति तुम सकते शरीर में जो लावण्य है सौंदर्य है उसको कीर्ति कैसे कह सकते हैं आप ये शंका आ गई उसके उत्तर में कहा तपस्थ कीर्ति होती अरे बाबा जब सौंदर्य है तो उसकी कीर्ति होगी ख्याति होगी ततश्च मान उस युष्टि से कीर्ति हो जाए लावण्यम पंचमश ततश्च मन जो पंचमी है ततः ठीक है लावण्य वो लावण्य से ततः मान लावण्य से इस लावण्य से क्या होगा कीर्ति होती है इति असंकीर्ण गुणद्वय विशिष्ट उपासना सिद्ध दो प्रकार के गुण विशिष्ट उपासना कीर्ति और दृष्टि अलग अलग उपासना सिद्ध हो गया ये कहा कीर्तिमान इत्यादि फलवाक्य ब्रह्मवर्चस इत्यादि का तुल्यार्थत्वाद अव्याख्य समान तो कीर्तिमान भवती दृष्टिमान भवती इत्यादि फलवाक्य है मंत्र में वो पूर्व जैसा ही है हाँ, ब्रह्मवर्चसी भवती अन्नादो भवती इत्यादि के समान है इसलिए उसके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है <clears throat> मंत्र आगे अथ योश्च ऊर्ध्वशुषि सौदानः स वायु स आकाशः तदेतदोजश्च महस्यति उपासीत औजस्वी महस्वान् भवति वेद अथ यो अस्य ऊर्ध्वस्पृशिः सौदानः स वायु स आकाश ओजस्व महस्यति उपासी ओजस्वी महस्वान्वती एवं वेद अतः यो अश्य ऊर्वशी अश्य हृदय से ऊर्वशी ऊपर की तरफ जो छिद्र है हृदय स उदाहरण माने तस्थो वायु उदान उस ऊर्वशी का रहने वाला जो वायु है उसको उदान कहते हैं स वायु जो उदान है वही वायु है और स आकाश वही आकाश है यहां भी तीन गुण तीन है उदान वायु आकाश तीन है त्रिदय करके उपासना करता है वो उदान है वही वायु है वही आकाश है तदेतर वही जो उदानाख्य जो ब्रह्म है ओजस्व महस्य की उपासना दो गुण का आराम करके उपासना ओज शरीर का बल और महामान महत्ता ये दो गुणों को लेकर के उपासना करें तो उसका फल यही होगा वजस्वी महस्वान भवती वजस्वी हो जाता है और महान हो जाता है यह होगा वेदा ऐसे उपासना करेगा तो ऐसे होगा ये कहा ठीक है हृदय से ऊर्धो छिद्र वैशिष्ट है हृदय के ऊपर के छिद्र के विशिष्ट वैशिष्ट रूप से उदान है बैठा है उदान वायु आकाश उदान और वायु और आकाश तीन गुण का आधान करता है एक उदान है दूसरा वायु है तीसरा आकाश है तृतय अन्योन्य संबंधम उपास्यम ये कहते हैं उदाहरण का वायु के बाह्य वायु के साथ संबंध है वायु एक वायु और वायु का बाह्य वायु का आकाश के साथ संबंध है आकाश में विचरण करता है वायु उदाहरण का संबंध वायु के साथ और वायु का संबंध आकाश के साथ ऐसा दिखाना है अथ यो अश्य इत्यादि कहा अथ यो अश्य शशि ऊपर की तरफ जो चित्र हृदय में हम आपाद तलाद आरभ्य ऊर्धम उत्कर्णा तो उदाहरण वायु कब काम करता है देखो जीते जी जीवन जब तक जीवित अवस्था में तो क्या करता है इस शरीर को नीचे जाना नहीं देता लुढ़कना नहीं देता फिर ऊपर रखता है अब उपान वायु ऊपर को न खींचे अपान वायु के नीचे खींच रहा है ये दो चुंबक में लटका हुआ है शरीर हमारा नीचे अपान वायु खींच रहा है और ऊपर उदान वायु खींच रहा है इसलिए ठीक बैठा हुआ है अगर उदारवायु काम न करे लुढ़क जाएगा जैसे लकड़ी के ऊपर लुढ़क जाएगा सो जाएगा नीचे गिर जाएगा रहने वाला और अपान वायु न खींचे तो ये चला जाएगा ऊपर हाँ, गुब्बारा होकर के ये स्थिति हो जाएगी ये दोनों वायु के पृथ्वी में अपान वायु पृथ्वी में होकर के खींच रहा है नीचे के चुंबन बन के काम कर रहा है हमारे शरीर के लिए और ऊपर उदान वायु काम कर रहा है और मृत्यु काल में क्या करता है पैर के अग्रभाग से लेकर के उदान वायु पूरे खींच करके सबको लेकर के ऊपर चला जाता है यही कहना चाहते हैं ये उदान वायु का काम यह है जीवित काल में तो शरीर की रक्षा कर रहा है ऊपर की तरफ खींच रहा है चुंबक का काम कर रहा है नहीं तो ईश्वर नीचे चला जाए शरीर देखो तो कोई गति नहीं बैठे लोग जीवित अवस्था मृत मृतकाल में क्या काम करता बताते अथा यो अश्य ऊर्दो शिशिर इस हृदय के ऊपर की दिशा में जो छिद्र है तस्थ वायु उसमें जो वायु है सब उदान माने वो वायु उदान है वो सुशी उदान नहीं है उस सुशी में रहने वाला वायु उदान है आपाद तलाद आरभ्य पैर के अग्रभाग से लेकर के पैर के तल्ली से लेकर आरभ्य उत्क्रमणार्थ जो उत्क्रम करता है अंतिम अवस्था में उत्क्रमण करने का काम उदान वायु के माध्यम से चला जाता है अंत में प्राणवायु काम नहीं करता उदान वायु काम करता है अवस्था में ऊपर की तरफ खींच के ले जाता है इसलिए ऊर्धश्वासी होता है उस काल में उत्क्रमणार्थ और उत्कर्षार्थम से कर्म कुरबान और विशेष कर्म करता है वो उत्कर्ष विशेष कर्म करने के कारण से कुरबन अनिधि उदान ऐसे चेष्टा करता है इसलिए उदान कहा सब वायु वो जो उदान है वही वायु है वायु वायु अच्छा तद आधार से आकाश वायु का आधार आकाश ये तीनों आकाश तदे तद वायु आकाश हो ओजो हेतु देखो वायु और आकाश में बहुत बल है वायु में इतना शक्तिशाली है क्या न कर दे पहाड़ को उड़ा के ले जाए वायु इतनी शक्ति है वो का कारण है वो और दूसरा आकाश में सारा संसार वो अपने पेट में करके बैठा हुआ आकाश आकाश के बाहर कोई भी नहीं सब आकाश के भीतर पड़े हुए हैं इतने शक्तिशाली आकाश सबको अपने पेट में समाए बैठा है वायु और आकाश में इतने बल है हाँ। इसलिए ओज गुण मान कर उपासना करना ये बोलते हैं ओज माने बल ये कहते हैं आकाश तरह आकाश वायु वायु आकाश और ओजो हेतुत्व वायु और आकाश बल का हेतु है वायु में बहुत बड़ा बल है एक आधी आ जाए तो अभी क्या कर दे और आकाश सारा संसार को अपने पेट में लेके बैठा हुआ ये बलशाली है वो आकाश के बाहर कोई जा ही नहीं सकता नहीं जा सकता ऐसे बलशाली है तो वो जो माने बल ओज नाम से उस उदान की उपासना करना चाहिए क्यों वो उदान का संबंध वायु के साथ है और वायु का संबंध आकाश के साथ है और आकाश और वायु ऐसे बलशाली है इसलिए उसको बल मार के उपासना करे बल महत्वाच्य महा और महान है इसलिए महाभारत की उपासना करेगा वो और महा तो गुण का आराम करके उपासना करेगा समान होने बाकी तो समान है वाक्य वैसे ही होता है ठीक है कहते हैं उत्क्रमणात उदाहरण निकलता है अंतिम अवस्था में निकलने का काम करता है जब शरीर परित्याग का समय आएगा तो पैर के तल्ली से लेकर के वायु को खींचना शुरू कर देगा जितने इंद्रिया है सबको खींचना शुरू कर देगा खींचते खींचते अपने में समेट करके ऊपर की तरफ चला जाता है इसलिए उसका उदाहरण कहा उद अनैतिक उदाहरण ऊपर की तरफ चलता है वो अंतिम अवस्था में इसलिए उदाहरण कहा अभी भी ऊपर की तरफ ही हो चुंबक के काम कर रहा अभी नहीं तो शरीर नीचे चला जाए बिना आश्रय का इसकी रक्षा के लिए दो चुंबक लगे हुए हैं नीचे अपान वायु और ऊपर उदान वायु ना नीचे गिरने देगा ना ऊपर जाने देगा ठीक बैलेंस मिला हुआ है है उत्क्रमण उदाहरण दिशा में उत्क्रमण करता है अंतिम अवस्था में माने ये उदाहरण वृत्ति से ही निकलना होता है किसी भी जीवात्मा को निकलना हो अंतिम समय में उदाहरण वृत्ति से निकलना होगा प्राण वृत्ति से नहीं अपान वृत्ति नहीं समान वृत्ति नहीं उदाहरण वृत्ति से निकलता है जीवात्मा इसलिए उदाहरण कहा उसका उदान त्रिपति वायु त्रिपति की वाक्य से आश्रित वायु तो का और उदान का क्या संबंध है कहते हैं पंचम अध्याय में आएगा वही पच्चीस छब्बीस खंड में आएगा पंचम अध्याय के उदान त्रिपति वायु त्रिपति वायु त्रिपति आकाशा त्रिपति और आकाशा त्रिपति वायु से अंतरिक्ष से अं, अंतरहितम तक त्रिपति इत्यादि वाक्य आएगा सब तृप्त हो जाते हैं ये कहा जाता है उदाहरण त्रिपति वायु त्रिपति ये पंचम अध्याय के वाक्य शेष है उदाहरण के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है वो वाक्य आएगा पंचम अध्याय में इति श्रुतेश स्मृति गण से कहा तदाधारश्च इत्यादि बोलते हैं हाँ, हाँ, सवायु इत्यादि कहा वायु और आकाशत्व आधार आधेय संबंधा वायु का आकाश के साथ क्या संबंध है आधार आधेय संबंध है आधेय है वायु और आधार है आकाश आकाश में वायु घूमता है यथा सर्वद्रुगो वायु यथा आकाश तो वायु सर्वत्र महान ऐसा है ऐसा है आधार आधे भाव है दोनों में वायु और आकाशत्व आधार आदय संबंधा वायु को आकाश में आधार आधे संबंध वायु तृप्ति आकाश तृप्ति तृप्ति मतलब से आगे पंचम अध्याय में भी आएगा वायु की तृप्ति होकर आकाश तृप्त होता है पंचम अध्याय आगे पढ़ेंगे हम यह तदाधार से इत्यादि तदेत उदाहख्यम ब्रह्म तदेत माने उदाहरण नामक जो ब्रह्म है ब्रह्म पूर्ववत जैसे पहले आया ओजो मह से आद्याम विशिष्टम उपासना ओज और मह ये दो गुण विशिष्ट करके उपासना करे उसका गुणद्वयम निर्देशक है ये दोनों गुणों का निर्देश करते हैं क्या है ओज और महान माने वायु और आकाश महान भी है और बलशाली भी यही दिखाते हैं वायु आकाश अयो इत्यादि कहा था भाष्य में कहा था वायु आकाश अयो ओजो है ये बल का कारण है बहुत ऊंचा ओजस्वी इत्यादि वाक्य से कीर्तिमान इत्यादि ना पुण्यार्थत्व ओजस्वी भवती बहु महस्वान भवती इत्यादि वाक्य फल वाक्य बोल रहा है किंतु पहले जैसा ही है कीर्तिमान भवती विष्णुमान भवती पहले जैसे कहा था वैसे इसलिए अर्थ नहीं करेंगे देखा आगे बढ़ रहे हैं ते वाए ते पंच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग से लोक सुधार स्वयतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से द्वारपान वेद अश्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम एवं पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से द्वारपान वेद देवायते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से पारप पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से द्वारपान अस्य जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम त्रयेतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से द्वारपान वेद तेरा ये ब्रह्म पंच पुरुषा ये पूर्वोक्त ब्रह्म परमात्मा के द्वारपाल हैं ब्रह्म पुरुष ब्रह्म पुरुष है ब्रह्म संबंधी पुरुष है द्वारपाल है के पांच प्राण अपान ज्ञान समान दान के पांच ब्रह्म पुरुष है तेवा ये पूर्वोक्त पूर्वोक्त है जो प्राण उपास है ब्रह्म पुरुष है मैंने पुरुष है ब्रह्म पुरुष ब्रह्म के संबंधी पुरुष है द्वारपाल जैसे राजपुरुष होता है राजा के संबंधी होते हैं वैसे ब्रह्म पुरुष है ब्रह्म संबंधी पुरुष है उनके द्वारपाल है स्वर्ग से लोग द्वारपाल जो हृदयस्थ ब्रह्म है हृदय स्वर्ग भवन है जहां ब्रह्म निवास है ब्रह्म रहता है जहां उसके द्वारपाल है पांचों छिद्रों में बैठे हैं पांच दरवाजा है उसमें पांचों छिद्रों में बैठे हैं स एतान एवं ब्रह्म पंचपुरुषान स्वर्ग से लोक से द्वारपान भेदा जो कोई व्यक्ति हो जो कोई भी हो एतान ये जो पांच उपरोक्त पूर्व कहे गए पांच एतान एवं इस प्रकार जो पांच प्रकार से यह उपासना बताई पांच की पंच ब्रह्म पुरुषान पांच प्रकार के ब्रह्म पुरुष है स्वर्ग से लोक से द्वारपान जो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक है हृदय लोक आर्ध ब्रह्म हृदय रूपी ब्रह्मलोक के जो द्वार द्वारपाल है इनको जो उपासना करता है वेदमानी उपासना करता है अश्य कुल वीरों जाते ऐसे उपासक के कुल में वीर पुरुष पैदा होगा शास्त्रार्थ में वीर पुरुष होगा वीर हो जाएगी और ये तो दृष्ट फल होगा और प्रतिपत्ति थे स्वर्गम लोकम और भाग ब्रह्म की प्राप्ति करेगा मृत्यु के पश्चात या दृष्ट फल होगा दृष्ट फल तो होगा वीर पुरुष पैदा होगा उसके संतान ऐसे होंगे और अदृष्ट फल होगा हार्ग ब्रह्म को प्राप्त करेगा उपासक प्रतिपत्ति थे स्वर्गम लोकम स्वर्गलोक को प्राप्त स्वर्गलोक माने हृदय या हृदय है ब्रह्मलोक हार्द ब्रह्म को प्राप्त करेगा या हार्द ब्रह्म की उपासना है वो स्वर्ग नहीं कौन प्राप्त करता है तो कहते हैं यह एतान एवं पंच ब्रह्म प्रशांत स्वर्ग सुरक्षित आत्मान देगा एक जो व्यक्ति ऐसा जानता हो उपासना करता हो यही पांच ब्रह्म पुरुष जो है प्राणादि पांच स्वर्ग से से जो हाथ हृदय रूपी स्वर्ग है यहां इसके द्वारा पाप को जो जानता हो ये ये, कहा उपासना करता हो उसके यही कोई वीर पुरुष पैदा होगा दूसरा उसके मृत्यु के पश्चात हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी <clears throat> ठीक है भाष्य ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्ताश्चक्षुश्रोत्रपतोबलिन्द्रियाणि च सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मया कुर्या मामा ब्रह्मया करोदविनाकरणस्त्वयाकरणेऽस्तु तदात्मनिरदे धर्मास्ते मयि ये